अरे जुलाब तो छोटा रोग नहीं है भाई साहब मौत हो जाती है आदमी की इतना छोटा नहीं है कई बार अगर जल्दी जल्दी होने लगे पांच पांच मिनट पे तो दो दिन में आदमी की जान निकाल देता है इतना खराब है जुलाब तो जुलाब जब बहुत हो जाए हाँ बहुत ज्यादा तो इसकी सबसे अच्छी औषध जो स्वयं पाक घर में है वो है जीरा जीरा है जीरे का पानी बनाइए जीरे को पानी में डालिए आधा चम्मच एक कप पानी में खूब उबालिए फिर पानी को ठंडा करके सिप करके पीजिए और जीरा चबा के खाइए और एक औषधि है वो भी आयुर्वेद की ही औषधि है हाँ उबालने का खूब उबालने का थोड़ा नहीं अच्छे से उबालने वो तो दिन में तीन चार बार अब इसमें एक और औषध है वो होम्योपैथी में भी है और आयुर्वेद में उसका नाम है ई सब गोल भूसी ई सब गोल पाउडर बाजार में मिलता है पाउडर गोल ई सब गोल ई सब का एक पौधा होता है ई सब उसमें बाली आती है फिर उसको खोलो तो उसमें से दाने छोटे छोटे निकलते हैं वो पाउडर में मिलता है तो ये सब गोल पाउडर बाजार में मिलता है वो लाने का है और दही में मिला के खाने का है एक चम्मच ये सब गोल पाउडर आधा कप दही खूब अच्छे मिलाना फिर खाना तो गुलाब का बिल्कुल ठीक कर देता है बच्चों को तो आधे चम्मच से भी कम बड़ों को तो एक चम्मच तक चलेगा ये सब गोल इतना प्रभावी है तीन बार जो खा लिया तो खराब से खराब जुलाब ठीक कर देता है हाँ ये सब गोल का बहुत रोगों का उपाय है जैसे कोष्ठबद्धता बहुत है तभी भी ये सब गोल काम आता है अंतरियों में जख्म हो गया जिसको अल्सर और पैस्टिक अल्सर कहते हैं तभी भी ये काम आता है एक बहुत खराब रोग है डाइवर्टिकुलाइटिस अंतलियों का कैंसर तो उसमें भी ये सब गोल काम आता है बहुत उपयोग है उसके लेकिन आप उसका जुलाब वाला ही उपयोग ध्यान रखिए तो जीरा और ये सब गोल पाउडर ये जुलाब की सबसे अच्छी औषध है हम्म। दोनों एक साथ देने की जरूरत नहीं है दोनों बहुत स्ट्रांग है कोई आप जीरा दो पहले नहीं ठीक होते ये सब गोल होम्योपैथी में जुलाब की ये ऊपर वाली औषध है नेक्स्ट लॉ में कितना भी खराब से खराब जुलाब है ये लिख लो आप जो नक्सवामी का है ये जुलाब की भी औषध है होम्योपैथी में और यही औषध होम्योपैथी में कॉलेरा की भी है कॉलेरा समझते हैजा जिसमें उल्टी भी होती है और जुलाब भी होते हैं उसकी भी यही औषध है नक्सवामी का दो बार तक चलेगा जुलाब होता है तो दिन में इसको तीन बार देने का और मूल व्याध में सिर्फ शाम को एक ही बार है ये बहुत काम की औषध है लक्ष स्वामी का और मैंने ये जानबूझ के आपको लिखी है क्योंकि आगे मैं इस पर बहुत बात करने वाला हूँ ये सभी शराबियों की औषध है सभी व्यसन करने वालों की औषध है का और सल्फर किसी भी तरह का व्यसन करते हो शराब पीते हो गांजा पीते हो चरस पीते हो सिगरेट पीते हो बीड़ी पीते हो और उनको कुछ भी रोग होगा तो यही दो औषधि ठीक करेगी उनको इसलिए आप सबके लिए औषधि माना वो तो बाद में बताऊंगा ये पहले आप सुन लो जुलाब आपसे बात हो रही है तो जुलाब में मैंने जीरा बताया ये सब गोल आयुर्वेद होम्योपैथी में ये औषधि जुलाब की और होम्यो हाँ ऊपर वाले और होम्योपैथी में जुलाब के साथ उल्टी और गुलाब हो रहे हैं या खाली उल्टी हो रही है तो भी यही औषधि और पित्त के जितने भी प्राप्त हैं उसकी भी यही औषधि नक्स वाले का और कागज की सबसे अच्छी यही औषधि हाँ जॉन्डिस क्योंकि ये औषधि और बता रहा हूं इस औषधि के गुण जो भी वैश्यावृत्ति करते हैं और उसमें से उनको जितने रोग आते हैं गोलेरिया हो गया प्रमेह हो गया सुजात हो गया ये सब होता है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज उनकी भी यही औषधि नक्स वामिका और जिन लड़का को कम उम्र में गलत आदतें पड़ जाती है हस्तमैथुन करते हैं मास्टरवेशन करते हैं उनकी भी हुई औषधि बिना रोल सकारी दुपारी संध्याकाली एक एक थे हस्तमैथुन बहुत खराब है वो सेक्स जो स्पेशलिस्ट है ना सेक्सोलॉजिस्ट वो कहते हैं और उसके पीछे उनका जो थ्योरी है वो बड़ा विचित्र है उसकी चर्चा ना करें तो अच्छा है ये आप इसका ध्यान रखते ये लक्ष्य स्वामी का जो है ना बहुत बीमारियों में आई है काम देखो आपको क्या क्या लिखाया मैंने जुलाव हो गया संदास हो गया उसकी अच्छी औषध है आपको कभी बयासी हो गया मूल गया दगंदर उसकी औषध है कागे हो जाए पीलिया हो जाए उसकी यही औषध है शराब पीने वाले व्यसन करने वालों को कोई भी रोग हो जाए उसकी ही औषध है जैसे शराब पीने वालों को खांसी हो गई ये दे दो बिल्कुल ठीक हो जाएगी शराब पीने वालों को भूख नहीं लगती है औषध दे दो भूख लगेगी झोंक नहीं आती है औषध दे दो झोंक आएगी कुछ भी रोग हो व्यसन करने वालों को वैश्यावती करने वाले लोग जो रोग लेके आते हैं खराब खराब उसकी भी यही औषध है जो लड़के जवानी की उम्र में गलत आदतें पाल लेते हैं उसकी भी यही औषध है और ये औषधि क्या क्या करती है अगर हमको तो खराब से खराब एक बीमारी पोट की है हार्निया हार्निया की भी यही औषधि है यही औषधि है खाली एक शाम एक एक समय भी ले लो ना शाम को तो भी ये बहुत इफेक्टिव है ये बहुत कड़क औषधि है शाम को ही ले लो एक बार तो भी बहुत अच्छे खाने के आधे घंटे में और ये औषधि एक और अद्भुत काम करती है ये कल कौन था जिसको जुकाम हुआ था सोया तो जिसको भी जुकाम हो जाए और नाक बंद हो जाए उसकी भी यही औषध है हम्म। सर्दी और सर्दी जुकाम के साथ खोखला हो जाए उसकी भी यही औषधि है मल्टीपर्पज है ये और रात को काम करने वाले और दिन को सोने वाले लोगों की भी यही औषधि है <laughs> रात को काम करें और दिन को सोए उनको बीमारी ही बीमारी आती है उनकी भी यही औषध है जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं नहीं काम दिन में ही करना रात को सोना लेकिन कोई मजबूरी है तो रात में भी काम करना है उसके बाद कोई तकलीफ हो जाए तो उसकी ये औषध है और बता देता हूं कि जो लोग शरीर श्रम नहीं करते सिर्फ दिमाग से काम करते हैं उनको कुछ भी हो जाए तो उनकी भी यही औषधि नहीं नहीं ये कम से कम पैतालीस रोग ठीक करती है लेकिन सभी नहीं ठीक करती सब रोग तो बहुत है एक सौ अड़तालीस से ज्यादा है और एक बता देता हूं लीवर में कैंसर हो जाए तो उसकी भी यही औषधि लीवर में कैंसर और पित्त की थैली में पत्थर हैं उनको भी तोड़कर निकालेगी ये औषधि मदद करती है बर्बरिस के जैसा ही पित्त की थैली में पत्थर है तो उसमें भी ये काम आते हैं और किसी व्यक्ति को एक बार में पोट साफ नहीं होता बार बार संडास जाना पड़ता है उसकी भी यही औषधि और कई लोगों को ऐसा होता है कि एक दिन जुलाब हो गया एक दिन कोष्ठबद्धता हो गई ऐसा चलता है उनकी भी यही औषधि है ये औषध लगभग अड़तालीस पैंतालीस से अड़तालीस रोग में काम आती है अब तो आखिरी बता देता हूं कि बुखार आ जाए सर्दी के साथ बुखार जुकाम के साथ बुखार सर्दी जुकाम खोखला बुखार तो भी यही औषधि इस औषध से मैंने 40-40 साल पुराने लोग ठीक किए हैं जो जुकाम से पीड़ित है चालीस साल हो गया जुकाम मिटता नहीं उनका भी मिटा दिया इसने सर्दी सर्दी के साथ ताप ठीक है बच्चों को भी है ये बड़ों को भी है स्त्री को भी है पुरुष को भी है बच्चों को ये औषध देना हो तो एक थेम पानी में डाल के चौथाई कप पानी में डाल के उसमें से दो दो चम्मच पानी पिलाना बच्चों को बड़े लोगों को सीधे एक एक थे जीप पे डाल दें बच्चों को खाली साफ और सर्दियाँ तो भी ये औषधि ठंडी लग के कुछ भी लो तो यही औषधि है ठंडी कभी भी लग के कुछ भी आए मलेरिया आता है उसकी भी यही औषधि ठंडी लग के कुछ भी हो और ऐसे लोगों की ये सबसे अच्छी औषधि है जिनको गर्मी में भी ठंडी लगती है अभी हमको मालूम है कि कड़क धूप है तो कहेंगे यार बड़ी ठंड लग रही है तो इसको ये औषधि दे दो मिनट में ठंड गायब कर देते सबको तो चलते ठीक है इतने सारे काम नहीं आते बच्चों को बताया एक थीम पानी में डालना चौथाई कप फिर उसमें से दो दो चम्मच पानी पिला देना अब आगे चलते पेट दुखने की भी यही औषधि लिखी लो आप किसी भी कारण से पेट दुखता है खाना हजम नहीं होता डाइजेशन नहीं होता गैस बन रही है गैस बनने की भी यही औषधि है है पांच रुपए में पांच एम मिलती है पांच एम में सौ लोगों का इलाज कर देते हैं पांच रुपए में सौ लोग ठीक होते हैं इतनी सस्ते इसको हम होम्योपैथी में रामबाण औषधि कहते हैं ले ना सोलापुर में मिलता है क्यों नहीं मिलता ठीक है अब आगे चले अब सुन लो अभी एक और बता देता हूं कि जब शरीर में एक चर्म रोग होता है वो चर्म रोग ऐसा है कि अचानक से सवेरे सवेरे देखो तो पूरा चर्म लाल लाल हो जाता है और खा जाती है उसमें क्या बोलते हैं उसको कुत्ती होना कुत्ती बोलते हैं इसकी सबसे अच्छी यही है शब्द थिंग पे जाना कहीं भी नहीं है जवान पे लेना है कुछ भी हो जाए ब्लड प्रेशर हाई हो जाए उसकी भी यही औषध है है कि कितना भी उच्च रक्त दबाव हो एक हम डालो पांच मिनट बाद चेक करो नॉर्मल कर देते इतनी तेज औषध है मेथी डालने से तीन महीना लगता है ये पांच ही मिनट में ठीक करते इसलिए मैंने बहुत जानबूझ के ये औषध लिखी है और इसके नीचे ये लिखी है ना ये भी पचास रोग में काम आती है वो भी बताऊंगा सल्फर लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं हम अभी क्या रोग है आगे ढोके दुखना ढोके दुखने की भी यही औषध है और वैसे ढोके दुखने की अपने घर में भी औषध है वो भी लिख लेना ये तो है ही इसके अलावा गाय का जूना तू रात्रि को नाक में डालना एक एक थे सोना तो सब तरह का ढोके दुखना बंद और और एक औषध है धोखे दुखने की अपने घर में वो है ना सुंठी माने अदरक अदरक से बनता सोट सोठ तो थोड़ा सौठ का पाउडर और थोड़ी सी शक्कर इसमें शक्कर औषधि है थोड़ा सोट का पाउडर थोड़ी शक्कर खड़ी शाकर हो तो बहुत अच्छा नहीं तो ये वाली भी चलेगी और नहीं तो गुड़ भी चलेगा तो सोट पाउडर थोड़ा सा शक्कर या गुड़ और थोड़ा सा नमक ये गर्म पानी में मिलाकर आप लो तो जितना भी खराब से खराब धोखे दुखना है सिर दर्द सब खत्म कर देते कायम कायम सोच जो है बहुत अच्छी औषध है सिर दुखने की गर्म पानी में सूट डालने का उबालने का पीछे से थोड़ा नमक थोड़ा शक्कर या गुड़ मिला के पीने का अंडा हम्म। और पूरा दो दोनों हम्म। एक गिलास पानी सुन आधा चम्मच डाल के उबालना उसमें पानी में पहले फिर उस पानी में थोड़ी शक्कर मिलाना या शुगर ये गुड़ मिलाना और थोड़ा नमक मिला के पीना ये बेटे रुकने का बहुत अच्छा इलाज है और बाकी तो ये नक्सवामी का भी है एसिडिटी के लिए सुंठ बहुत अच्छी औषध है एसिडिटी और एसिडिटी के लिए जीरा भी बहुत अच्छी औषध है वैसे ही पानी में डाल के उबाल के अलग अलग एक बार सुन तो एक बार जीवा दो बार तीन चार घंटे बाद हो गया सूट आधा चम्मच ज्यादा नहीं गर्म करती है ज्यादा